आज से ठीक 90 बरस पहले लाहौर जेल में जितेंद्र दास तिरसठ दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे आज मैं आपको इसी महान क्रांतिकारी की दास्तान सुनाऊंगा जितेंद्र नाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर सन 1904 को कलकत्ता में हुआ था उनके पिता का नाम बंकिम बिहारी दास और माता का नाम सुहासनी दास था जब जितेंद्र नाथ दास सिर्फ 15-16 बरस के थे वे अनुशीलन समिति में शामिल हो गए जो बंगाल में क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा संगठन था 1921 में जब जितेंद्र नाथ दास सिर्फ 17 बरस के थे उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया इसके बाद जितेंद्र नाथ दास ने कॉलेज की पढ़ाई विद्यासागर कॉलेज और बंगबाशी कॉलेज में की जब वे कॉलेज के छात्र थे तो सन 1925 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और मैमन सिंह सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया मैमन सिंह जिला अब बांग्लादेश का हिस्सा है जेल में जितेंद्र दास ने कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ 20 दिनों की भूख हड़ताल की भूख हड़ताल के 20वें रोज जेलर ने आकर उनसे माफी मांगी और तब जतननाथ दास ने अपना अनशन तोड़ दिया इसके बाद क्रांतिकारियों ने जेल में उनसे संपर्क किया और उन्हें यह प्रस्ताव दिया कि वे बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करें जितेंद्र नाथ दास ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जेल से छूटने के बाद वे बम बनाना सीखने लगे क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल ने जितेंद्र नाथ दास को बम बनाने की ट्रेनिंग दी इसके बाद जितेंद्र नाथ दास का संपर्क भगत सिंह से हो गया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंके थे उन बमों को जितेंद्रनाथ दास ने ही बनाया था सन उन्नीस में अंग्रेजों ने जितेंद्रनाथ दास को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लाहौर जेल में बंद कर दिया गया जहां उन पर लाहौर षड्यंत्र केस यानी लाहौर कॉन्स्परेसी केस का मुकदमा चलाया गया लाहौर सेंट्रल जेल एक बहुत बड़ा जेल था जहां सैकड़ों कैदी थे हिंदुस्तानी कैदी भी और अंग्रेज कैदी भी अंग्रेज कैदियों को वहाँ सारी सुविधाएं मिली हुई थी लेकिन हिंदुस्तानी कैदियों के साथ वहाँ अमानवीय बर्ताव किया जाता था कैदियों के जो कपड़े थे वे कई कई दिन तक नहीं धोए जाते थे हिंदुस्तानी कैदियों की जो रसोई थी उसमें चूहे घूमते रहते थे तिलचट्टे घूमते रहते थे इन सब के खिलाफ जतेंद्र नाथ दास ने भूख हड़ताल करने की घोषणा की उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया जब अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें नाक में नली के रास्ते दूध पिलाना चाहा तो उन्होंने अपने सर को जोर से झटक दिया वो दूध उनके फेफड़े में चला गया और उनकी हालत और बिगड़ गई इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास को जेल में बुलाया जितेंद्र नाथ की देखभाल करने के लिए पहले तो जितेंद्र नाथ इस बात पर राजी नहीं हुए लेकिन बाद में उन्होंने अपने छोटे भाई से ये शर्त मनवा ली कि जब वे बेहोश हो जाएंगे तो उन्हें किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा जितेंद्र नाथ दास की हालत बिगड़ती चली गई और अंत में जेल के अधिकारियों ने सरकार को सिफारिश भेजी कि उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया जाए लेकिन अंग्रेज सरकार ने कहा कि उन्हें जमानत पर ही रिहा किया जाएगा 13 सितंबर सन उन्नीस को भूख हड़ताल के तिरसठवें दिन नाथ दास शहीद हो गए तब तक वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे जब दास की शहादत की खबर लाहौर में फैली तो लाहौर का जो मेन मार्केट है अनारकली बाजार उसकी सारी दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गई लाहौर में उनकी जो शव यात्रा निकली उसमें हजारों लोग शरीक हुए और उस शव यात्रा का नेतृत्व दुर्गा भावी ने किया ये दुर्गा भाभी कौन थी दुर्गा भाभी महान क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की धर्मपत्नी हुआ करती थी और उन्हें सारे क्रांतिकारी दुर्गा भाभी कहकर बुलाते थे इसके बाद जितेंद्र नाथ दास की लाश ट्रेन के रास्ते रेलगाड़ी के रास्ते लाहौर से कलकत्ता लाई गई रास्ते भर रेलवे स्टेशनों पर वो गाड़ी रुकती और हजारों लोग दास के शव का दर्शन करते जब जतेंद्रनाथ दास की लाश हावड़ा जंक्शन पर पहुंची तो उनके ताबूत का स्वागत करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हावड़ा जंक्शन पर खड़े थे कलकत्ता में जब दास की शव यात्रा निकली तो वो दो मील लंबी थी और उसमें पांच लाख लोगों ने शिरकत की इतनी बड़ी शव यात्रा कलकत्ता ने पहले कभी नहीं देखी थी नाथ दास की लाश की तस्वीर उस समय के एक बहुत बड़े अखबार द ट्रिब्यून ने अपने पहले पन्ने पर छाप दी थी दास की शव यात्रा में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश साम्राज्य सख्ते में आ गया इसके बाद ब्रिटिश राज ने ब्रिटिश हुकूमत ने फैसला किया कि किसी भी क्रांतिकारी की लाश को उसके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा और यही वजह है कि जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई तो उनकी लाशों को चुपचाप छिपकर सतलज नदी के किनारे जला दिया गया उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया जितेंद्र नाथ दास की शहादत जंग आज़ादी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई उनकी शहादत के सम्मान में पंजाब विधानसभा के दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और सेंट्रल असेंबली में मोतीलाल नेहरू ने हिंदुस्तानी कैदियों पर हो रहे जुल्मों सितम के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया एक सेंसर मोशन लाया जो सैतालीस के मुकाबले 55 वोटों से पारित हुआ तो साथियों ये थी अमर शहीद जितेंद्र दास की कहानी उनके शहादत दिवस पर उनकी पुण्यतिथि पर जितेंद्र दास को हमारा क्रांतिकारी सलाम अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार